आप कहिए हक आ गया है और बातिल न किसी चीज़ को पैदा करता है और न किसी चीज़ को लौटाता है